परम मंगलमयी भगवती श्री राज राजेश्वरी की महती अनुकंपा हम सब पर है जो अपनी पावन गोद में बिठा करके अपना ही चिंतन करा रही हैं हम सबका कल्याण करने के उद्देश्य से उनके पावन चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे हैं मार्कंडेय पुराण देवी भागवत पुराण गीता और शिव पुराण आदि में जहाँ जहाँ भी भगवती के चरित्र कहीं विस्तार से कहीं संक्षेप से दिए गए हैं उनको यथाशक्य समेट करके सार सार भाग को लेने का प्रयास हम लोग कर रहे हैं आए भगवती की चर्चा में प्रवेश करें उसके पहले माँ के प्रार्थना हम लोग मिलकर के थोड़ी बोल लें जैसे अभी हम ये भगवती स्तोत्रम बोलें बिल्कुल वैसे ही उसी तर्ज में ही बोलेंगे तो आसान हो जाएगा